गंध पुष्प धूप वस्त्र अनुलेप मधु इक्षुरस कुमकुम कपूर खस तथा कस्तूरी आदि उपचारों से उनकी पूजा करें फिर वस्त्रों से विष्टिक करके उत्तम नवेद भोग लगाए धर्म कथा श्रवण पूर्वक रात्रि में जागरण करें वेद यज्ञ क्षत्रिय ब्राह्मणों को स्वर्ण और दो वस्त्र दान करें उस दिन उपवास पूर्वक श्री विष्णु को नमस्कार करके रुक्मणी जी का दर्शन करें भक्ति भाव से योग करके मनुष्य अपने जन्म का फल पाता है समस्त यज्ञ दानों तीर्थों और व्रतों का भी फल पा लेता है पितृ वर्ग और मातृ वर्ग का भी उद्धार करता है तथा जन्म भर के किए हुए पापों का नाश कर देता है वहां से पश्चिम न्यू कोमती नदी के उत्तम तट पर दक्षिण दिशा की ओर शंशाखवर्त शंकावर्त नामक तीर्थ है जहां स्वयं प्रकट हुई अति उन्नव उत्तम रक्त गर्भा चंकाकृत स्थित तथा शिला स्थित है पूर्व काल में सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने वेदों का अपहरण करने वाली शंखासुर को जहाँ मारा है वह वैष्णव क्षेत्र कहा गया है उसी को शंखोदक तीर्थ भी कहते हैं वह शंखाकार दिखाई देता है इस प्रकार उसमें स्नान करके मनुष्य ब्रह्मत्या से मुक्त हो जाता है तथा शूद्र को भी लगातार सात जन्म तक ब्राह्मण योनि प्राप्त होती है तत्पश्चात गोस्पद तीर्थ को जाए जहाँ श्राद्ध करके मनुष्य गया से सात गुना अधिक फल पाता है वही श्राद्ध करके वेनंदन पृथु ने अपने पिता को पाप यूनि से मुक्त किया था न्यूकोमती नदी परम पवित्र और महा महा महासिद्ध एवं क्षेत्र की सीमा के लिए लाई गई है सब पापों का नाश करने वाली वह नदी प्रणादित्य से दक्षिण भाग में स्थित है नारायण ग्रह से उत्तर दिशा में थोड़ी ही दूर पर उसकी स्थिति है उसी के भीतर विख्यात गोष्पद नामक तीर्थ है गोष्पद के समीप थोड़ी ही दूर पर नागराज अनंत स्वयं प्रकट हुए हैं जो पृथ्वी पर उस तीर्थ की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं नरक से अत्यंत भयभीत होने वाले पितर पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और कहते हैं हमारे वंशजनों में जो गोष्पद तीर्थ की यात्रा करेगा वही हमारे उद्धार करने वाला होगा गोस्पति तीर्थ में पुत्र को देखकर पितरों के यहाँ उत्सव मनाया जाता है खीर मधु सतु आटा तिल और अक्षत आदि से वहाँ श्राद्ध करके मनुष्य अपने पितरों को स्वर्ग लोक में भेज लेता है उस उस तीर्थ में श्रेष्ठ पुरुष नास्तिक का संग ना करे सब सामग्रियों के सहित श्रद्धालु पुरुष आसक्ति मनुष्यों के साथ उस तीर्थ में जाए और वहाँ पहुंचकर मन ही मन यह भावना करे कि मैं गया तीर्थ में आया हूँ इस प्रकार जो ब्राह्मण पति ग्रहण से होकर वहाँ की यात्रा करता उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है प्राप्त होता है वह न्यूगमती नदी में स्नान करके पितरों की मुक्ति के लिए विधि पूर्वक श्रावण तथा श्राद्ध तर्पण करे तर्पण के साथ समय इस प्रकार कहे ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत समस्त देवता ऋषि पितर मनुष्य तथा माता और पिता में आदि माता में समस्त पितर मेरे दिए हुए तृप्त हो इस प्रकार विधि पूर्वक तर्पण करके मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से पिंड युक्त श्राद्ध करे पहले शास्त्र के ज्ञाता निर्दोष ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उन्हें अर्घ देकर इस प्रकार कहे कव्य बाट अनल सोम यम अर्यमा अनिश्वात्य बहिषद और सोमपद नाम के पितृ देवताओं आप सभी महाभाग यहाँ पधारे और आपके द्वारा सुरक्षित जो मेरे पितर वंशज एवं स्वहदर हैं वे भी यहाँ पदार्पण करें पिता मह उन को पिंडदान देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ यूं कहकर फिर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें पिता पितामह प्रपितामह माता पितामही प्रपितामही मातामह प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह आदि जो पितर हैं उनके लिए मेरे द्वारा जो दिया हुआ है पिंड अक्षर रूप से उपस्थित हो सोम मंगल और बृहस्पति रूप भगवान विश्वभर को नमस्कार है इस प्रकार नमस्कार एवं पूजन करके गोस्पद के समीप अनाथ पितरों के लिए पिंड दान करें उस समय निम्नांकित स्तुति का पाठ करना चाहिए तथा हमारे कुल में जो लोग मेरे हैं किंतु मरे हैं किंतु जिनकी सदगति नहीं है जो रोरव अंधतमिस्त्र और कालसूत आदि नरकों में पड़े हैं उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंड देता हूँ जो अनंत यातनाओं में पड़े हैं प्रेत लोक में गए हुए हैं पशु पक्षी कीट सर्प अथवा वृक्ष योनि में स्थित है उन सभी के लिए मैं यह पिंड देता हूँ जो हमारे बांधव नहीं है जो हमारे बांधव है अथवा जो अन्य जन्मों में बांधव रहे हैं वे सब इस पिंडदान से सदा तृप्त है मेरे जो पितर पेट रूप में विद्वान हैं जो सब इस पिंडदान से सदा तृप्त रहे हैं जो पितर तथा बांधव आदि स्वर्ग अंतरिक्ष एवं भूलोक में स्थित हैं जिनका मरने के बाद संस्कार नहीं होता यह पिंड उन सबको मुक्ति देने वाला हो जो मेरे पितृकुल में मातृकुल में कुल में कुल तथा कुल में रहे हैं तथा इनके अतिरिक्त भी जो बांधव कहे गए हैं मेरे कुल में जिनके लिए पिंडदान आदि क्रियाएं नहीं हुई है जो स्त्री और पुत्र से रहित हैं जिनके श्राद्ध आदि कर्म का लोप हो गया है जो उन्मत्त अंधे पंगु तथा विकृत रूप वाले हैं जो कच्चे गर्भ की अवस्था में ही मर गए हैं इस प्रकार मेरे कुल में जो ज्ञात अथवा अज्ञात पूर्वज मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उन सब के लिए मैंने यह पिंड दिया है यह अक्षय होकर उन सबको प्राप्त हो मेरे सभी पितर सदा के लिए प्रेत भाव से मुक्त हो जाए इस गोष्पद तीर्थ में जो कुछ भी मधु मिश्रित गोदूध धृत और खीर आदि दिया गया है वह सब पूर्व तक सभी पितरों को अक्षय होकर प्राप्त हो तदंतर श्राद्ध करता वहां वेद मंत्रों का स्वाध्याय करे सब पुराण सुनाए ब्रह्मा विष्णु सूर्य तथा रुद्र संबंधी नाना प्रकार के स्तोत्रों का पाठ करे इंद्र सूक्त सोम सूत्र पवन पवनमात सूत्र भ्रताम भ्रतसाम रथंत्र साम ज्येष्ठ साम शांति काध्याम मधु ब्रह्मांड तथा मंडल ब्रह्मण का भी यथा संभव पाठ करें ये सब स्तोत्र पितृ को प्रसन्न करने वाले हैं इस प्रकार नीकोमती नदी में स्नान करके उत्तम गोष्पद तीर्थ में विधिवत पिंडदान करने के पश्चात पुनः निम्नांकित मंत्र का पाठ करें ब्रह्मा आदि देवता और श्रेष्ठ मुनिवर साक्षी रहे मैंने इस तीर्थ में आकर पितरों का ऋण चुकाया है श्रेष्ठ देवताओं में पितृकाय के लिए इस तीर्थ में आया हूँ आज मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ इस बात की आपको आपको सभी लोग साक्षी रहे हैं इस प्रकार उत्तम गोष्पद तीर्थ की परिक्रमा करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे और पिंडदान का नदी में विसर्जन करे वृद्धि तथा श्राद्ध में माता से आरंभ करके और गया में पिता से प्रारंभ करके श्राद्ध करना चाहिए इस इस तीर्थ में श्राद्ध और पिंडदान करने वाला पुरुष अपने पितरों की विष्णु लोक में पहुंचा दे गोस्पद तीर्थ में जो एक ब्राह्मण को भोजन कराता उसे कोटि ब्राह्मणों को भोजन देने का पुण्य मिलता है पुण्य काल में पूर्व काल में वेन नामक राजा हो गया वह मृत्यु की कन्या का पुत्र था अतः माता मह के दोष से उसमें भी क्रूरतापूर्ण विचार आ गया उसने अपने धर्म को पीछे छोड़कर पाप में मन लगाया वेद शास्त्रों का उल्लंघन करके वह अधर्म में तत्पर हो उसका विनाश काल उपस्थित था इसलिए उसकी ऐसी वृद्धि बुद्धि हुई कि मैं ही इस यज्ञ सब यज्ञों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा स्तवन और पूजन करने योग्य हूँ इस निश्चय के द्वारा धर्म का उल्लंघन करके वह प्रजाजन को पीड़ा देने लगा इस प्रकार उसका यह बर्ताव देख मरीचि आदि महर्षि कुपित होकर बोले वेन तुम अधर्म न करो तुम जो कुछ करते हो वह संतान सनातन धर्म नहीं है तुमने राज सिंहासन पर बैठते समय पहले ये प्रतिज्ञा की है कि मैं प्रजाजनों का पालन करूंगा परंतु अब इसके विपरीत आचरण करते हो महर्षियों के कहने पर दुर्बुद्धि बैन हंसकर बोला मेरे सिवा कौन धर्म की सृष्टि करने वाला है पराक्रम शास्त्र ज्ञान तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस भूतल पर कौन है तुम लोग मुझे धर्म की उत्पत्ति का स्थान समझो मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को जला सकता हूं संसार की सृष्टि कर सकता हूं और सबका संहार भी कर सकता हूं गर्व और उदंडता से मोहित हुए बैन को जब वे किसी प्रकार समझाने में सफल ना हुए तब सभी महर्षियों ने कुपित हो अर्धवेदीय अविचारणी मंत्र के प्रयोग से महाबली बैन को मारकर उसकी बाएं भुजा का मंथन किया उस उसके एक छोटा सा काले रंग का पुरुष पैदा हुआ वह भयभीत हो हाथ छोड़कर सामने खड़ा हो गया उसकी ओर देखकर मुनु ने कहा निषिद्ध बैठ जाओ इससे वह निषाद कहलाया और निषाद वंश का प्रवर्तक हुआ उससे तुंगुर और खस आदि अन्य जो धीवर अजातियां उत्पन्न हुई उन्होंने विंध्यागिरी को अपना निवास स्थान बनाया उन उन महर्षियों ने वैन के दाहिने हाथ को अरणी की भांति दिया मत्था इससे सूर्य और अग्नि की भांति पृथ्वी पैदा हुआ उनका शरीर बड़ा तेजस्वी था उन्होंने लोक रक्षा के लिए अजगर नामक धनुष सर्पों के समान बाण खड़ग तथा कवच धारण किए उनके प्रकट होने पर सब प्राणी हर्ष में भराए वे स्वर्ग लोक को चला गया